वो कहने लगे ए मूसा जब तक वो लोग उस मुल्क में मौजूद हैं हम हरगिज हरगिज उसमें कदम नहीं रखेंगे अगर उनसे लड़ना है तो बस तुम और तुम्हारा रब चले जाओ और उनसे लड़ो हम तो यहीं बैठे हैं